इधानी ब्रह्म ज्ञान अवाप्त्यर्थम उपासना कर्तुपवेशनार्थम देश विशेषाधिकम आह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उपासना कर्तु जो निधिध्यासन करता है उसको बैठने के लिए उपासना है निधिध्यासन भी है और ध्यान भी है बैठने के लिए देश विशेषाधिकम देश आसन शरीर कैसे रखना ये सब कहते हैं विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि व शि शरीर अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रिया निरुद्ध भक्त स्वगुरु प्रणम्य विविक्त देशे एकांत देश में सुखासनस्थ सुखासन तिषति सुखासनस्थ स्थिर अं, स्थिर सुखम आसनम योग सूत्र में स्थिर हो सुख से बैठे सुख आसन सुख से आसन जिसमें कष्ट नहीं हो आना ठीक से बैठ सके और एक पद्मासन स्वस्तिकासन जिस प्रकार इसे के सुखासन भी कहा जाता है सुखासन सुखासन सुखासनस्थ आसन कुशादि बिछा करके सुख से बैठे आराम से आसन में टेढ़ा मेढ़ा हो समतल स्थिर नहीं हो तो फिर उसके लिए मन व्यापृत तो होगा ध्यान नहीं होगा और सुख आसन में सुख से जिस प्रकार आसन में बैठने पर सुख से बैठ सके पद्मासन हो सुखासन हो स्वस्तिकासन हो सिद्धासन हो जिस आसन पर सुख से बैठ सके शुचि ही पवित्र है बाहर अंदर शुचि पवित्रता चाहिए कोई संन्यास हो गया तो सब पवित्र शुचि अशुचि नहीं मानना ये अर्थ नहीं है पवित्रता आवश्यक है अंदर अंतकोण की पवित्रता बाहर भी शुचि पवित्रता चाहिए समग्रीव शिव शरीर ग्रीवाच ग्रीवा ग्रीवा च शिश्च शरीर चमानीय से समग्रीवा ऐसे ग्रीवा है ग्रीवा ग्रीव ग्रीवन शब्द है ग्रीवा ग्रीवा शब्द है लिंग समानानि ग्रीवा च शिश्च शरीर च स समग्रीव शिव शरीर कंठ शिव शरीर समान हो समान क्या है तो सीधा रहे ग्रीवा शिव शरीर वो भगवान श्री कृष्ण के जैसे शरीर एक प्रकार टेढ़ा है कंठ दूसरी तरफ है सिर तीसरी तरफ है ऐसा रहता है वंशी धारण करते हैं तो वो तो एक वंशित बजाने के लिए रूप है ध्यान करने के लिए से रूप नहीं ध्यान करने के लिए स्वयं उनका ध्यान करो कोई बात नहीं स्वयं ध्यान करते समय शरीर सीधा ऐसा सीधा रहना चाहिए अत्याश्रमस्थ अत्याश्रम अतिशयित आश्रम अत्याश्रम ये परमहंस संन्यास टीका में कहेंगे सकले इंद्रिया निरुद्ध सब इंद्रियों को निरोध करके इंद्रिय का निरोध करना आवश्यक है इंद्रिय अपने विषय में दौड़ती है विषय में जाने पर ध्यान ध्येय में नहीं होगा इंद्रिय को निरोध करना पड़ेगा दमन करना पड़ेगा विषय प्रचार से रोकना पड़ेगा भक्तिया स्वगुरु प्रणम्य और भक्तिपूर्वक गुरु को प्रणाम करके पहले ध्यान जप आदि करते समय गुरु का ध्यान प्रणाम चिंतन करके फिर आगे ध्यान शुरू करें विविक्त देशे च सुखासनस्थ विविक्त देशे च एकांत प्रदेशे विविक्त देश क्या था एकांत देश में च अव्याकृत काले भी अव्याकुल काले भी कोई व्याकुलता नहीं है कुछ समय में कभी दुर्भिक्ष देशभंग झंझावात भन्या इसी प्रकार समय हो तो उसमें ध्यान नहीं होगा जिस समय में शांत है ब्राह्म मुहूर्त होता है अच्छा है अन्य समय में विक्षेप होता है जिस काल में कोई व्याकुलता नहीं इसी समय में च शब्द कौन से देश काल दोना ही एकांत देश हो और जिसमें कोई उपद्रव का भय नहीं हो सुखासनस्थ सुखम अनुद्वेगकरम दर्भादि आसनम सुखासनम सुखम आसनम सुखासनम जो सुख है जो उद्वेग नहीं कष्ट नहीं देने वाले दर्भादि आसनम दर्भ कुश है आदि आसनम कुछ मृग चर्म वस्त्र ऐसे बिछा करके सुखासन तिष्ठती थी सुखासनस्थ तस्मिन तिष्ठती तस्मिन सुखासन सुखासनस्थ शुचि ही बहिरंत शौचवान बाहर स्नान आदि से शौच शुद्धि अंत अंतकरण में राग द्विषादि रहित तो होकर के चिंता रहित तो होकर के ध्यान करना चाहिए समग्रीव सिर शरीर सामानी का अर्थ समानानी ग्रीवाच शिश्च शरीर यस्य स शरीर ग्रीवा शिर शरीर समान एक सीधा रहे ऋजु काय ऋजु काय वैश्य स काय काय है शरीर सीधा रहे सीधा रखने का रखने से अधिक समय बैठ सकता है जो सीधा नहीं करके टेढ़ा रखते हैं कि झुक कर बैठते हैं वो अधिक समय झुक झुक कर नहीं रह सकते बीच में थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा अभ्यास कर देखो जो सीधा बैठेगा तो अधिक समय बैठ सकता है और जो सीधा नहीं भर करके झुक कर बैठते हैं वो कितने समय बैठेंगे कठिन होता है झुक करके नहीं बैठ सकते थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उसको इधर उधर इधर झुके उधर झुके ऐसे बैठना है जैसे घड़ा नीचे रखा गया घड़ा रखा गया तो उसको सीधा करने के लिए बीच बीच में थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है रख दिया तो घड़ा स्थिर है ऐसे शरीर को रख देना ये मेरुदंड सीधा रहेगा आसन ऐसे करेगा ऐसे रह गया सीधा तो बीच में उसको सीधा करने का ऐसा करने का नहीं उसमें व्यापार यदि करना है तो ध्यान कैसे होगा और यदि कोई टेढ़ा बैठेगा बीच में थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा तो ऐसा बैठेगा तो बीच में ऐसा करना पड़ेगा मरुदंड ऐसा टेढ़ा कर बैठेगा ये इसको लेकर कोई कई जंगे में लगा कर बैठते हैं ये कहानी को इसको जंगे में लगा कर बैठो देखो हमारा तो नहीं जाता है कई जंग में ऐसा लगा कर बैठे कितने देर बैठे फिर ऐसा करना पड़ेगा ये टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा सीधा बैठे तो अधिक समय बैठ जाते हैं एकाग्र ध्यान होगा ये अभ्यास करना पड़ता है सीधा बैठने का सीधा बैठने का है तो टेढ़ा नहीं बैठ सकते और जो टेढ़ा बैठते उनको सीधा बैठने का तो दो मिनट पाँच मिनट बैठेंगे फिर टेढ़ा फिर सीधा बैठना कहें तो थोड़ा सीधा कर देंगे फिर थोड़ी देर में <laughs> ऐसे हो जाए <laughs> कुत्ता के पूछ जैसे टेढ़ा <laughs> छोड़ दिया तो टेढ़ा बांध कर रखो तो सीधा तो छोड़ दिया तैसे तो अभ्यास करे सीधा रखना तो सीधा सूर्य झुकाए और सुखासन पद्म स्वस्तिका आदि आसनस्थ इत्यर्थ सीधा रहेगा तभी आसन भी ठीक हो आसन पद्मासन स्वस्थिक सुखासन सिद्धासन में स्थित हो शरीर सीधा रहेगा तब अधिक समय बैठ सकता है और शरीर को इधर उधर करना नहीं पड़ेगा अत्यासमस्त अत्यधिक आश्रम अत्याश्रम अत्य का अर्थ अधिक अत्यधिक आश्रम अधिक आश्रम कौन है क्या है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ कुटीचक बहुधक हंसेभ्य अधिक आश्रम परमहंस लक्षण अत्याश्रम चारित आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सन्यासी ये सारी में सन्यासी में भी चार ही भेद है कुटीचक बहुदक हंस परमहंस कुटीचक बहुदक हंस से उत्कृष्ट है परमहंस कुटीचक तो जो सन्यासी होते त्रिदंड धारण करते हैं शिखा रखेंगे काटेंगे नहीं यज्ञ में पवित्र रखेंगे शिखा भी चोटी रहेगा यज्ञ में पवित्र रहेगा दंड कमंडल धरेंगे कौपनी से कंथार लेकर चलेंगे पिता माता गुरु का आराधना करेंगे पिता माता का गुरु का भी और खनित्र आदि कुछ साधन लेकर के एकत्र अन्नादान पर एकत्र अन्न भोजन करेंगे श्वेत ऊर्ध्व पुण्डधारी ऊपर पुंड त्रिव ऐसे करते हैं त्रिदंड त्रिदंड सन्यासी होते हैं त्रिदंड होता है ये कुटी जगह दूसरा है बहुदक वो भी शिखा शिखा आदि धारण करें कंथाधर त्रिपुंड धारण ये त्रिपुंड धारण करते हैं जग के समान है मधुकर वृत्तिया मधुकर वृत्ति से भिक्षा लेंगे जग तो एक कहीं से भोजन एक स्थान में करेगा अरे बहुत है मधुकर मधुकर जैसे भ्रमर मधु लेने वाले मधुमक्खी का भी पुष्प से थोड़ा थोड़ा लेता है ऐसे घर से माँ करके थोड़े थोड़े मधुकर वृत्ति सन्यासी परामर्श भी करते हैं तो कहीं एक स्थान में बहुत नहीं लेकर नहीं लेकर के थोड़े थोड़े लिया सन्यासी को ऐसा है अन्य को कष्ट नहीं दे अन्य को भार नहीं भरे बने तो भोजन ऐसे नियम है भोजन देर में जाए सम थोड़ा थोड़ा एक रोटी एक रोटी पाँच सात घर से ले लिया तो पर्याप्त तो हो गया उनको भी अभाव नहीं होगा और यदि दो तीन व्यक्ति के लिए भोजन बनाए और वहाँ के बैठ कर सन्यासी पहुँच गया ये सब खा लेगा <laughs> तो भूखा रहेंगे नहीं तो दोबारा बनाएंगे इसलिए एक रोटी ले लिया तो चल जाएगा अब बनाने वाले थोड़ा एक दो रोटी तो बनाना है बनाते ही ये गृहस्थ लोगों को उनका कर्तव्य है कोई यदि आ गया तो उसको देना चाहिए इसलिए थोड़ा अधिक बनाते हैं नहीं बनाए अधिक तो भी एक रोटी चल जाएगा देने से तो इसे मधुकर वृत्ति से रहते हैं कम आगे है हंस हंस होता है जटा धारण करेंगे त्रिपुंड धारण करेंगे और माधुकर मधुकर है और निश्चय नहीं कि इनके घर में भोजन रहा है यहाँ से ऐसा नहीं जहाँ जैसे जाकर के भिक्षा कर रहते हैं ये दंड विधारण करते हैं किंतु परमहंस होते उनसे उत्कृष्ट है ये हंस कुटीचक बहुत हंस से उत्कृष्ट है परमहंस ये परमहंस में दंड भी नहीं रखते दंड ग्रहण करना है सन्यासी को सन्यासी में दंड का भी त्याग कर देते हैं और तो उनका केवल चिंतन करना है वेदांत श्रवण मनन करके निधिध्यासन करना यही उनका लक्ष्य है और कुछ नहीं और एक स्थान में वेदांत श्रवण करने के लिए एक स्थान में रह सकते हैं गंगा तीर में भी एक साथ रह एक अधिक समय रह सकते हैं नहीं तो एक स्थान में दो तीन दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए जो वेदांत श्रवण करते हैं और रह सकते हैं जो गंगा तीर में भी कहीं भी रह सकते हैं इस शास्त्र में आया अन्यत्र तीन दिन से अधिक नहीं रहे घूमते रहे परिभ्राजक सर्वम परित्यज व्रजति लघु में आया परिभ्राट सब छोड़ करके एक स्थान में रहने पर संग्रह हो जाता है राग द्वेष भी होता है बिना कारण राग द्वेष हो जाता है संग्रह अपने पास जरूरत नहीं तो भी कोई दिया तो रख लो देते सौ कहते रख लीजिए किसको दे देना ये प्रपंच क्यों करना अपने को जरूरत है तो रखना रख दो फिर किसको देना है कभी कभी ऐसे वस्तु देते हैं जो किसको दे नहीं सकते हैं कोई कोई गृह तो अपने पास है वो क्या करेंगे इसका हमको जरूरत नहीं तो किसको देंगे चलो किसा महात्मा को दे दो नाम है महात्मा महात्मा शब्द का अर्थ सोचते नहीं कभी कभी अपने कपड़ा कोई अपने पहना हुआ है थोड़ा रखा थोड़ा नहीं चल जाएगा चलो किसा साधु को दे दो उसमें पाप होता है ऐसे नहीं देना चाहिए किंतु कोई कोई दे देते साधु को दे दो अपने काम में नहीं तो दे दो फिर देने पर किसको देंगे साधु को दे दो <laughs> तो ऐसे कभी दे देते हैं तो साधु के पास आएगा तो किसको देंगे वो दूसरे को नहीं दे सकते हैं ऐसे तो ये चीज़ ऐसा नहीं जो चीज़ देना होता है बहुत लोग अपने जैसे व्यवहार करते ऐसे नहीं देते हैं अपने व्यवहार करने के तो पाँच दस हज़ार साल से राजी चाहिए और साधु को देने के लिए साठ रुपया का कम्बल है चालीस पचास रुपया में स्वेटर बहुत मिल जाता है लिख कर लेते हैं साठ रुपया में कम्बल है <laughs> कभी कोई दिया था कम्बल हमारे पास तो मैं कहा तो ज़रूरत है हमारे पास है बोलते नहीं किसको दे देना मैं किसको देंगे <laughs> जो कम्बल है उनके पैर के नीचे भी रखने के लिए योग्य नहीं है तो साधु को दे दो <laughs> क्या करे याद ऐसे तो परमहंस है जब जैसे जो मिला जैसे वस्त्र भी ग्रहण नहीं करेगा और व्यर्थ ग्रहण नहीं कर सकता है यदि परिव्राट होगा व्यर्थ चीज नहीं ग्रहण करेगा एक घड़ी है घटी यंत्र चाहिए और कोई दिया और कोई दिया जो परिव्राट इधर उधर चलेगा एक कमंडल है दूसरा कमंडल अभी अभी देखेंगे तो कमरे में एक कमंडल है दूसरा मिला तो ठीक है और एक मिला तो भी रख लो किंतु से जो चलता रहेगा इधर उधर कितने कमंडल रखेगा हाथ में <laughs> दो तीन होने पर भी छोड़ना पड़ेगा कंबल रखेगा कमंडल रखना पुस्तक कुछ बाकी ऐसे कपड़ा ऐसे रखते रहते इतना हो जाएगा चल कर यदि जाना है अब बिना टिकट ट्रेन में जाएगा तो अलग बात है <laughs> चल कर पकड़ कर जाना है तो लेकर के कितने लेकर चलेगा कंबल कितने लेकर जाएगा गर्मी के समय आ गया कंबल बाहर पड़ेगा ठंडी में तो कंबल को बड़ा सुविधा रखेंगे और गर्मी समय आया गर्मी समय में तो कपड़ा भी पसना होता है पर परेशानी है उसमें कपड़ा कितने रखे ऐसे जितने कम छोड़ दो फिर कहीं मिलेगा तो ये परमहंस है हंस होता है क्षीर निरा विवेक करने वाला दूध और जल परमहंस होता है आत्मा अनात्मा विवेक करना ये परमहंस हमेशा है आत्मा अनात्मा विवेक सबको कह सबको लगता है हम मान न जानते हम आत्मा अनात्मा जानते हैं किंतु अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए जानते हैं मतलब अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं हो किंतु आत्मबुद्धि का अर्थ कोई शरीरों का आत्मा नहीं करता है किंतु मैं मनुष्य ये बुद्धि है या नहीं मैं मनुष्य बुद्धि है तो अनात्मा में आत्मबुद्धि है आत्मा में आत्मबुद्धि है अनात्मा में देह में आत्मबुद्धि होने से मैं मनुष्य इसलिए आत्मा अनात्मा विवेक करके जानते मतलब अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं हो हमेशा ही चिंतन करे ये देह में नहीं हूँ देह से भिन्न में हूँ मैं मनुष्य कहते समय तो देह में हम बुद्धि होगी इसलिए अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं करना यही है परमहंस का हमेशा ही आत्मा अनात्मा विवेक करके आत्मा जो व्यापक स्वरूप है अतः सातत्य गमन धातु से बनता आत्मा सातिभ्याम मनिन मनिण निरंतर व्यापक है आत्मा में हूँ व्यापक आत्मचिंतन करना है निरंतर ये परमहंस ये परमहंस लक्षण अत्याश्रम है तस्मिन तिष्ठति ते अत्याश्रमस्थ ये परमहंस में स्थित सकल इंद्रिया निरुद्ध सकल इंद्रिया क्या था निकलानी इंद्रिया तो इंद्रियों को निरुद्ध करके मन को छोड़ देंगे इसलिए क्या समनस्कानी मनसा सहितानी समनस्कानी मन के साथ मन को भी इंद्रियों का दमन मन का सम दमन दोनों आ गया मन को भी रुकना मन इधर उधर भागता है इंद्रियों को रोकर बैठ गया ध्यान करने के लिए कभी आंख बंद कर दिया कान में कुछ लगा दिया मन होकर कर्मा में बैठ गया मन स्थिर हो जाता है ना मन में भाग गया इसलिए मन को भी रोकने के लिए मन को रोकने के लिए अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवच वासना संपरित्याग प्राण सम्यक निरोधनम चार साधन है अध्यात्म विद्या अधिगम ये अध्यात्म विद्या की प्राप्ति वेदांत श्रवण मनन करने पर मन शांत होता है धीरे धीरे क्योंकि प्रपंच जगत में प्रपंच मिथ्या तो बुद्धि होती है एक अद्वितीय ब्रह्म है बाकी सब मिथ्या है इसे बार बार वेदांत श्रवण करने पर मन शांत होता है अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवच साधु संगम हमेशा ही उनके पास संत के पास जाकर साधु महापुरुष के संशय उनके पास रह करके अपने दोष बताए मन कहाँ जाता है बताए कैसे प्रगति होती कैसे ध्यान करते नहीं होता है कब विक्षेप हुआ क्या हुआ ऐसे करके फिर उनसे उपदेश लेकर के फिर प्रयास करें नहीं कि खाली सत्संग मतलब साधु संग पास गया और अपने को बताया कि हमारा ध्यान बहुत लग जाता है हमको ज्योति दिखती है हमको ऐसे हो जाता है हम सब कोई कोई लोग को जाकर के अधिक अधिक बताते हैं कोई किसके पास गए जाकर ऐसे ध्यान कर बैठ गया मेरे महाराज जी मैं आपको काल से पहले से देखा हूँ ऐसा हमको दिख जाता है आप आने वाले सबको मैं देखा पहले हमको मालूम है ऐसे बैठ करके मतलब जैसे हम सिद्ध महापुरुष दिखाएंगे तो फिर महात्मा क्या कहें बहुत आशा आप तो बहुत सप्तम भूमिका में तो कभी वो भी जाकर कर, प्रचार करके अपने हमको महाराज जी ने कहा मैं सप्तम भूमिका में हूँ सब लोग कहेंगे सब लोग कुछ लोग ऐसे करते बिल्कुल ये माया के अंदर इतने माया सबको फंसाती है बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी अपना साधन छोड़कर दूसरे को दिखाते कि हम कुछ हो गई हुआ कुछ नहीं ये कुछ हो गया तो दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं जिसको कुछ प्राप्त हुआ वो तो इतने शांत प्रसन्न रहेगा और दूसरे लोग उसको अच्छा कहे बुरा कहे क्या हो जाता है और कुछ नहीं हुआ तो तो दूसरे लोग कैसे सम्मान करेंगे कहे मैं साधन किया बस परमात्मा को मिला बस छाती में छाती लगा कर मिला ऐसे दर्शन किया नहीं तो कोई कहे ध्यान कर बैठा पहले सर्प आया उसके बाद व्याघ्र आया ऐसे किया दो चार व्याघ्र आ गए सिंह आ गए मैं क्या नहीं डरूंगा कहीं फिर बाद में भगवान आए पैर पकड़ कर भगवान का पैर पकड़ लिया मैं छोड़ूंगा नहीं तो भगवान ने बर प्रधान किया ऐसे ऐसे कहेंगे कुछ ना कुछ बात बना देते हैं ये सब कुछ नहीं मन को रोकने के लिए जो सत्संग करना है साधु के पास जा कर के अपने कमजोरी बताए अब बता करके आगे मार्गदर्शन लेकर चले जिज्ञासु जो है उसको चाहिए अंत अंतिम तक आवश्यक होता है उपदेश ग्रहण करके साधने में लगे तभी साधने में आगे होगा नहीं तो जो लगता है कि सब कुछ हो जाएगा बहुत लोग सत्य वेदांत श्रवण कर लेंगे फिर एकांत में जाकर बैठे हम ध्यान करेंगे वहाँ फिर संशय होगा तो निवृत्ति नहीं होगी सत्संग भी एक मन को रोकने के साधन है अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवच और एक साधन है ये सबसे सरल है किसके पास जाना कुछ नहीं और अपने आप कमरा में बैठकर कर लो बहुत सरल है क्या सरल मालूम है वासना संपरित्याग जो वासना इच्छा है ना उसको पूरा छोड़ दो किसको पूछना कुछ करना नहीं अपने में कोई इच्छा है वासना विषय ग्रहण करने के लिए लोकेशना पुत्रेशना वित्तेषणा है धन संपत्ति ख्याति आदि की क्या इच्छा है उसको पूरा छोड़ दो सरल है ना नहीं <laughs> ये तो पकड़े है तो इसको छोड़ दो कहीं इसको छोड़ दो छोड़ दिया अब वासना को छोड़ दो कहेंगे तो छोड़ दो फेंक दो ये यदि हो जाए तो और कुछ करना नहीं वासना संपरित्याग परित त्याग पूरा असम्यक परित त्याग पूरा त्याग ना सम्यक मतलब अभी छोड़ दिया थोड़ी देर में ऐसा नहीं अभी हमको कुछ नहीं चाहिए भोजन कर लिया तृप्त हो गया अभी कुछ नहीं चाहिए अब भोजन क्या तो कोई भोजन की इच्छा करता है भोजन करने का तो बिल्कुल और भोजन नहीं चाहिए ये ऐसा नहीं परित्याग सम्यक परित्याग श्मशानांते मैथुनांते भोजनांत च यामति सामति सर्वदा चे सैत नरो नारायण भवेत श्मशानांते मैथुनांते भोजनांते च यामति श्मशान के पास यदि कोई मर गया बड़ा वैराग विरक्त हो जाते सब बस संसार व्यर्थ है छोड़ देंगे बहुत घर कोई श्मशान के में इसको क्या कहते श्मशान वैराग अपना कोई मर गया तो बड़े विरक्त हो जाते हैं कोई व्यक्ति कोई पत्नी मर गई तो बाल में काला लगाता था काला ने छोड़ देकर सफ़ेद करके थोड़े दिन हो गया दो महीना के बाद फिर कटिंग करने लगा <laughs> पहले बैराग्य हो गया था दाढ़ी मुझसे बढ़ा बढ़ा दिया काला काला नहीं सफ़ेद हो गया उसको देखने पहचाने में नहीं आया ये कौन है कि हमेशा काला दिखता था अभी सफ़ेद तो कहाँ से आ गया फिर देखा कि दो तीन महीना के बाद फिर कटिंग साइज करके फिर काला करके <laughs> फिर तैयार हो गया भोजनांते अच्छा पहले स्मशान भोजनांत मैथुनांत स्मशानांत चाहियामति भोजनांत भोजन करने के बाद भोजन से वैराग्य होता है उसमें भोजन करने की चाहिए है भोजन पूरा कर लिया कोई ला कर देगा तो खाएंगे नहीं नहीं चाहिए भोजनांत मैथुनांत मैथुनांत मैथुन कर्म के बाद फिर उसमें वैराग्य हो जाता है और मैथुन उस समय जरूरत नहीं भोजनांत मैथुनांत स्मशानांत चयामती सामति सर्वदा से ऐसे यदि बुद्धि वैराग्य हमेशा रहे तो नरो नारायण भवे मनुष्य तो नारायण पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ऐसे वैराग्य हमेशा रहे भोजन करने के बाद जैसे तृप्त है भूख लगते समय भी ऐसे निश्चित रहे जो भोजन मिलेगा प्रार्थना ठीक है जो मिला ठीक है और मैथुनाते श्मशानांते तो मैथुनाते का अभिप्राय वो बिल्कुल बिल्कुल काम वासना नहीं है वो और स्मशानाते वैराग्य जैसे ऐसा हमेशा रहे ऐसे वैराग्य इसलिए वैराग्य जो कहा निरंतर वासना संपरित्याग वासना का परित्याग सम्यक परित्याग फिर नहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया फिर आ गया ऐसा नहीं कहते हम रात को सो वासना छोड़ दिए जब गाढ़ निद्रा में रहते उस हम कुछ ईचा करते हैं क्या कोई वासना का त्याग हो गया ना नहीं उसका त्याग नहीं कहते हैं सम्यक परित्याग बिल्कुल इच्छा नहीं करे ये सबसे सरल साधन है क्या करना सारी वासना को छोड़ दो पूरा यदि सरल से कोई कर ले तो वेदांत श्रवण करना लघु कौंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं किंतु सरल है वासना संपरित्याग और एक साधन है ये कर सकते हैं वासना त्याग करने के लिए वो साधन है प्राण सम्यक निरोधनम प्राणायाम प्राण को निरोध रोकना सम्यक निरोधनम थोड़ी देर कोई रोक दिया ऐसा नहीं और कभी कभी पूछेंगे तो कोई बोलता हाँ मैं पाँच मिनट रुक देंगे ऐसे बोलते थे ना पाँच मिनट रोकने वाले कोई यहाँ है बताओ पाँच मिनट से अधिकार रोकने वाले कोई है प्राण को रोकने वाले पाँच मिनट रोकने वाले तो है कोई ऐसे कोई कह देते पाँच मिनट कोई एक बार कह दे आधा घंटे हम रख देंगे देखो मैं बैठ कर रखा धीरे धीरे श्वास चलता रहता है <laughs> ऐसा पता नहीं चलता है और क्या देखो क्या कहा ऐसे तो हम दो तीन घंटा रह जाते हैं <laughs> हाँ, बोले आप योगी है ना आप रख देते हैं किंतु ऐसे नहीं पाँच मिनट भी रखना जो कहते हैं पाँच मिनट रखने के लिए ज़्यादा नहीं एक बाल्टी पानी रख रखकर सिर को डुबा कर रखो नाक मुख दोनों को डुबा कर रख दो इतने पानी में नाक मुख डुबा कर रखा इतने डुबा दिया तो पता चल जाएगा पाँच कितने समय रखता है परीक्षा तो सरल है कोई कहा था यहाँ भी कोई कहा था पाँच मिनट रख देंगे ये बड़े इतने बाल्टी है पानी भर कर रखो और उसमें मुख को डुबा कर रखो नाक भी पानी में रहे मुख भी पानी में रहे इतने पानी डुबा दो आँख बंद कर रखो तो देखो कितने समय रह जाता है पाँच मिनट कौन रख लेता है प्राणायाम अभ्यास करने से कोई रख सकते हैं रख ठीक है कोई रख पाएगा किंतु अभ्यास करके लंबा करे प्राण यदि लंबा करके प्राणायाम रोक कर रखे तो मन शांत हो जाता है ये मनोनाश वासनाक्षय ये मन को रोकने के लिए वासना की निवृत्ति और वासना निवृत्ति में मन का नाश होता है और प्राणायाम करेंगे तो मन शांत हो जाता है मन यदि शांत होकर रहता है ध्यान होता है तो प्राण अपाने अपने आप लंबा हो जाता है ये यदि कोई ध्यान करता है एकाग्र होकर ध्यान करता है तो कभी कभी उसको लगता है कि प्राण चलता ही नहीं है इतने प्राण धीरे चलता है तो स्वयं सोचता है कि प्राण चलता नहीं है ध्यान एकाग्र हो गया तो प्राण धीरे गति हो जाती है तो प्राण को रोकना ये भी मन को रोकने के लिए के साधन है तो मन को भी रोकना है मन का स्वभाव भागता है इधर उधर चंचलम ही मन कृष्ण का उसको धीरे धीरे रोकना पड़ेगा ज्ञान कर्म इंद्रियाणी सकल इंद्रियाणी कहन से ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब को रोक करके निरुद्ध रोक करके निरोध करके रोकने का क्या अर्थ है स्वस्व प्रचारेभ्य अवरुद्ध स्वस्व प्रचार अपना प्रचार विषय को इंद्र दौड़ती है तो विषय से रोक करके रोक करके वो विषय चिंतन नहीं करे लक्ष्य ध्यान ध्येय चिंतन करे और भक्तिया सौ प्रणाम्य प्रणाम्य प्रणाम करते समय वही प्रणाम करते हैं भक्ति से करने से उसका लाभ होता है भक्ति के बिना इसे ही खाली करना वो नहीं हमेशा ही परमात्मा का प्रणाम करते समय कभी गुरुजनों को प्रणाम करते समय बड़े को प्रणाम करते समय छोटे बड़े कहीं प्रणाम करते समय भक्तिपूर्वक प्रणाम करें भक्तिपूर्वक मन में परम पर, परमात्मा हे सर्वत्र है उनको ही प्रणाम करते हैं नमो नमो नारायणाय कहते सन्यासी को प्रणाम करने पर सामान्य किसको कोई प्रणाम करे परमात्मा सर्वत्र है परमात्मा बुद्धिया प्रणाम करे गुरु को प्रणाम करे गुरुजनों को प्रणाम करे पिता माता को जो प्रणाम करते घर गृहस्थ बसे भक्तिया प्रणम्य भक्ति से कैसे देववत देवाधिक्यादवा देवताओं को जैसे प्रणाम करते हैं देवता ईश्वर को इसी प्रकार गुरु को प्रणाम यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता है अर्था प्रकाशनते महात्मन पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु इसी प्रकार केवल इतने नहीं देवाधिक्यादवा देवता के समान देव साथ अधिक ऐसे भक्त बहुत हम देखे हमने देखा कहते हैं कि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं ईश्वर को प्रणाम करते किंतु गुरु को देखा तो गुरु के प्रति ज़्यादा भक्ति होती है तो ठीक है गुरु का भी ध्यान करो कोई कोई ऐसा कहते हैं परमात्मा में भक्ति करते किंतु उसकी अपेक्षा गुरु के प्रति अधिक भक्ति होती किसकी हो जाती तो इसलिए कहा गया देववत देवाधिक्यादवा देववत कहेंगे तो जिसको देवता से अधिक परमात्मा से अधिक भक्ति गुरु में वो प्रणाम करना चाहिए या नहीं करे तो देववत कहें तो, तो अधिक हो गया इसलिए कहा देववत देवाधिक यादवा देवता जैसे प्रणाम करे देव से अधिक हो ऐसे भक्तिपूर्वक स्वगुरु प्रणम्य स्वगुरु गुरु कौन है स्वस्य तत्वसी से अवबोधकम एक तो मंत्र दीक्षा देकर गुरु हो जाते हैं और एक वेदांत उपदेश करके तत्वसी अर्थ से अवबोधकम तत्वसी महावाक्य है तत्व असी ब्रह्म तुम हो इस अर्थ का बोधक ज्ञान कराने वाले ये तत्वसित अर्थ से अवबोधकम ज्ञान कराने वाले अवबोध ज्ञान ज्ञान कराने वाले तो ये है आचार्य है जो विद्या गुरु ये भी होता है और मंत्र गुरु भी विद्या दीक्षा गुरु भी, भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं तो ये तत्व से अर्थ का बोधक मुख्य गुरु है तुम ब्रह्म हो इस अर्थ को बोधन कराने वाले गुरु को प्रणम्य नम नम नत्वा तो नमस्कार करके प्रलगादन से प्रकर्षण नत्वा प्रकर्ष अत्यधिक नमस्कार प्रकर्ष अत्यंत तो वाह काय मन तीन से प्रणाम है और नमस्कार का अर्थ है अहंकार का त्याग सबसे बड़ा है प्रतिबंधक अहंकार नमस्कार अपन स्व अपेक्षा आपकी अपेक्षा में अपकर्ष हूँ स्व अपकर्ष ज्ञापन बड़पन नहीं मैं निकृष्ट हूँ आपसे आपकी आपका सेवक हूँ आपके अधीन हूँ इसका ज्ञान ज्ञापक सूचक ऐसा करने से उनको यही सूचना सूचना करते मैं आपके अधीन हूँ अपकर्ष मतलब मेरे पर कृपा कीजिए ये आशीर्वाद कीजिए ऐसा करके प्रणाम अहंकार का त्याग सब त्याग से बढ़ करके अहंकार का त्याग इसलिए अहंकार का त्याग पूरा अपने को ऐसे त्याग करे परमात्मा के लिए जब त्याग करते हैं पूरा प्रातः स्मरण में तृतीय श्लोक में आया प्रातः नमामि तमस परमर्क वर्णम तो तीन प्रातः स्मरण में तीन श्लोक में त्वम पद का अर्थ कहा गया प्रथम श्लोक में द्वितीय श्लोक में तत्पद का अर्थ तृतीय श्लोक में दोनों की एकता प्रातः नमामि तमसा परम तमसा परम अर्कवर्णम नमामि नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता अपने को समर्पण पूरा कर देना मिला देना उसके साथ अपनी सत्ता अलग नहीं रखनी यही नमस्कार है जब तक अहंकार है तब तक अपनी सत्ता अलग रखे अहंकार समाप्त हो गया तो पूरा प्रणम्य प्रणाम कर पूरा समर्पण संपूर्ण समर्पण ही प्रणाम है पूरा समर्पण तो पूरा समर्पण कर दिया तो एक अलग सत्ता है ही नहीं तथा दोनों की एकता है ये प्रातर नमामि में आया नमस्कार करता है मतलब पहले त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के अर्थ ज्ञान होने के बाद दोनों की एकता है यही नमस्कार करने का था एकत्व कहीं कहीं ये वेदांत में आचार्य मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं अद्वैत अभेद चिंतनात्मक नमस्कार है क्या नमस्कार है अद्वैत चिंतन अर्थात आपकी अपेक्षा में अलग न मैं आपकी एकता इतने निश्चय हो जाए शब्द से केवल कहने के लिए नहीं गुरु के सामने शब्द से कहना नहीं होता किंतु चिंतन करते समय अद्वितीय तत्व का चिंतन करे और स्व सत्ता का समर्पण अपनी सत्ता को अलग नहीं रखना तो ये भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य प्रकर्षण नमस्कार करके गुरु को प्रणाम करके ही साधना प्रारंभ करना होता है और कुछ भी नियम करे तो गुरु को बिना पूछे उनकी आज्ञा नहीं ले करके अलग से नया कुछ आरंभ नहीं करे ये शास्त्र में आता है कुछ भी करे तो पहले आज्ञा ले करके करे आज्ञा अनुमति लेना और बताना अलग होता है पहले से टिकट कर रखा है जाने के समय आ गया मैं तुम गया हो तो जा रहा हूँ तो कहीं अभी नहीं चार दिन के वजह हो टिकट हो गई है <laughs> टिकट यदि पहले कर लिया तो पूछना क्या जरूरत है कोई कोई जो जानते हैं टिकट करने के पहले पूछते हैं आगे हूँ तो मैं टिकट करवा जाने के लिए परंपरा है परिपाटी ऐसे होनी चाहिए और सब करके तैयार करके उधर बैग तैयार करके सब बांध करके ताला देना देने का बाकी है ताला दे करके बैग निकाल दिया अब आगे कहने जाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो समय बात करने का समय नहीं उस समय पीछे पीछे जाएंगे अभी बात करना नहीं सुबह देखा तो वो चला गया किस लिए आया था वो जाने कहने के जाने कहें वो कहना ये अनुमति नहीं होता है सब करके तैयार करके अंत में आगे में जाना और यदि कहेंगे अभी नहीं जाओ सात दिन के बाद मैं बाहर जाने वाला हूँ तभी जाना है तो बोले हाँ, टिकट हो गई <laughs> ऐसे नहीं अनुमति ले आज्ञा लेने का इस प्रकार जो करता है अपने कल्याण होता है किसका कुछ बिगड़ता नहीं है जो यही पर अधीन रहना स्वातंत्र का अर्थ नहीं मन से जो इच्छा हो करना ये स्वातंत्र नहीं है बहुत लोग सोचते हम स्वतंत्र क्यों किसके अधीन में रहेंगे थोड़े दिन पढ़ेंगे उसके बाद चले हम स्वतंत्र स्वातंत्र शब्द का अर्थ नहीं स्वातंत्र क्या है गुरु के अधीन नहीं है आचार्य के अधीन नहीं है जहाँ रहेंगे वहाँ के महापुरुष के अधीन नहीं यही इसको ही स्वतंत्र कहते हैं और अपने मन के अधीन है या नहीं मन में जो चाहे वहाँ जाने के वहाँ चले जाएगा नहीं जाए तो नहीं जाना इधर जाने इधर जाएंगे इसको कहते स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हुआ मन के अधीन हुआ मन के अधीन होकर के परमात्मा को प्राप्त करना है इसको स्वतंत्र कहते मन के अधीन ने मन को अपना अधीन करना पड़ता है मन को अधीन करने के लिए जैसे महापुरुष गुरु कहते इसे करे तो मन को रोके सामर्थ्य तो मन अपना अधीन हुआ तब तो स्वातंत्र होगा अब मन में इच्छा है थोड़े दिन चल जाएगा हमें नर्मदा परिक्रमा करने के लिए वहाँ परिक्रमा शुरू किया पंद्रह दिन महीना कष्ट होता है फिर तो भाग गया फिर चला गया पंजाब राजस्थान घूम करके छः महीने के बाद आ गया और तो हम सोचते ये परिक्रमा करके आया और तो परिक्रमा नहीं कही कहाँ घूम घूम कर आ गया कहे अभी पढ़ेंगे अभी कहीं नहीं जाएंगे फिर पंद्रह दिन एक महीने के बाद वहाँ के घी आदि सब याद करेगा वहाँ इतने मीठा खाए इतने दूध पिया यहाँ क्या मिलेगा चलो भागो तो फिर भागा ऐसे ये इसको क्या कहते स्वतंत्र किसके अधीन नहीं हम स्वतंत्र हैं ये स्वातंत्र से क्या होगा <laughs> परमात्मा की प्राप्ति होगी <laughs> इसलिए स्वातंत्र प्राप्ति कब होती है जब परब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तभी स्वतंत्र है परब्रह्म साक्षात्कार के ना कोई स्वतंत्र नहीं होता है ये स्वातंत्र प्राप्ति के लिए महापुरुष संशय चाहिए महापुरुष का अधीन तभी जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे तब मन को अपने मन से ऐसा होता है हमें चले जाएंगे गुरु कहते नहीं जाओ रुको तो नहीं जाना अपने मन ऐसा नहीं करेगा नहीं ऐसा करो जो कहे कहने पर कर सकता है मन ऐसे होते हैं महा महात्मा नहीं चाहने पर गुरु जी ने आज्ञा की करना है तो आज्ञा होगी तो करना ही है उसके बाद विचार करना नहीं गुरु की आज्ञा है तो पालन करना ही है तो करना ही है तो इसी प्रकार करने पर ही प्रगति होती है आगे सन्मार्ग इसमें अपने बुद्धिमता नहीं चलती है शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा उसके बाद ध्यान करना है एकाग्र एक बैठ करके गुरु को प्रणाम करे फिर ध्यान करना है ध्यान करने के लिए आगे मंत्र है अभी माइक भरे है इनको दे दो माइक वो थोड़ा मंत्र उच्चारण कर देंगे पूरा इसमें तो इसको हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै मा माविद्विषावहै ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ नमः अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच अदीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितङ्गुहायाम् विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवः शिर् सिमग्रीवशिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तमृतं ब्रह्मयोनिं तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिणं तमसः परस्तात् स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालाग्निः स चन्द्रमाः स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येते नान्यः पन्था विमुक्तये सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्मपरमं याति नान्येन हेतुना आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पण्डितः स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वलोके सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् याति पुरत्रयञ्च एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते त्रिषुधामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् अणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं विश्वमिदं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्य चक्षुः स शृणोम्य अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहं वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ते न भूमिरापो मम वह्निरस्ते न चानिलोमेस्ति न चाम्बरञ्च एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयं समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्नीपूतो भवति स वायुपूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति सुवर्णस्तेयात् पूतो भवति कृत्याकृत्यात् पूतो भवति तस्मादविमुक्तमाश्रितो भवति अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत् अनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते कैवल्यं फलमश्नुत इति ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति